और जिसने अपने माँ बाप से कहा तुम पर अफसोस है क्या तुम दोनों मुझे यही धमकी देते रहते हो कि मैं कब्र से निकाला जाऊंगा हालांकि मुझसे पहले भी कौमें गुजर चुकी हैं और वो दोनों अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं कि तेरी बर्बादी हो ईमान ले आ अल्लाह ताला का वादा बिला बिलाशुबा सच्चा है तो वो कहता है ये तो पहले लोगों के फर्जी किस्सों के सिवा कुछ नहीं